छह अंग महेश्वर का मालूम है किसको कोई है नहीं षडांग हंगानी षडाहु रंगानी महेश्वर से क्या त्यागत नित्य तृप्त भगवत वैराग्य अतिशय संपन्न से स्वार्थे कृष्णा संभवात भगवान तो नित्य तृप्त है और वैराग्य अतिशय से संपन्न युक्त है जो अतिशय वैराग्य युक्त है तो युग अपने लिए कुछ करने के लिए साहस है तृष्णा असंभवाद और कहेंगे करुणा से जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कुछ करते हैं कारुणिक से सुखेता जन सर्जन प्रत्य दुख बहुल जीवलोक जननानुपते यदि कारुणिक करुणा से करते हैं और यदि सृष्टि करेंगे सुख की सृष्टि करनी चाहिए सबको सुख देना चाहिए करुणा से कर रहे हैं तो यदि कार्मिक कोई करुणा से कुछ करता है तो सबको सुख देगा कोई सबको खिलाना चाहेगा खिलाना चाहेगा तो आटा बना कर खिलाना चाहेगा और जान बुझ कर नीचे डाल करके क्यों परेशानी करेगा नीचे डाल करके सुख तान सर्जन जन सर्जन सुख एकतान खाली सुख ही देना चाहिए जना सज्जन सृष्टि पर है इस तरह होना चाहिए कारण तो दुख बहुल जीवलोक जननान तो है और जीवलोक की सृष्टि करते परमात्मा जिसमें दुख बहुल है ये तो ठीक नहीं है और निष्प्रयोजन जन करुणा से नहीं अपने लिए नहीं ऐसे ही बना दिया ये भी ठीक नहीं अप्रयोजन से तो परीक्षागत प्रभुचन को पते परीक्षा बुद्धिपूर्वक बुद्धि शिक्षावान बुद्धि पूर्वकार जो कोई बच्चा है पागल है कुछ नहीं जानता कुछ ना कुछ करता है बिना प्रयोजन समझदारी व्यक्ति बिना प्रयोजन कुछ नहीं करता है अप्रेरित प्रयोजन शिक्षावत प्रवृत्ति है प्रयोजन मनुद्देश्य नहीं मंदो की है प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता है और बिना प्रयोजन इस तरह इतने बड़े प्रपंच बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी क्रिया शक्तिशाली की न जगत क्रिया ईश्वर में क्रिया शक्ति है क्रिया है शक्ति है ज्ञान है सब होने पर भी जगत की क्रिया सृष्टि नहीं होगी किसने सृष्टि करते हैं पर अपने लिए कृष्णा नहीं और जीव के ऊपर करुणा करने के लिए तो सुख के लिए सुख सृष्टि करनी चाहिए खाली सुख बोलो तो। सृष्टि करनी चाहिए दुख बोलो जीव लोग को तो सृष्टि नहीं कर सकते हैं निष्प्रयोजन में सृष्टि नहीं होगी इसलिए शक्ति होने पर भी जगत किरण अतः तस्मग्रहानुभावी भूतानुग्रह प्रयोजन तस्य इतर से नित्यमुक्त है अपने आत्मा का तत्व स्वानुग्रह अपना कुछ अनुग्रह अपने लिए कुछ करने के लिए किस प्रयोजन नहीं तस्ते नहीं फिर भी भूतानुग्रह प्रयोजन भूतान अनुग्रह भूतों अनुग्रह अनुग्रह प्राणी नाम अनुग्रह ये प्रयोजन है उनको भोग अपभोग देना ही प्रयोजन इसके लिए प्रवृत्ति होती है ज्ञान धर्म उपदेशन कल्पम प्रलय महाप्रलय से में पुरुषान उद्धरिष्ठानी उद्धरिष्ठानी ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा कल्प प्रलय महाप्रलय में न पुरुषान संसारी पुरुषों को उद्धार करूंगा इसका अभिप्राय से सृष्टि करते हैं तथा चौथम आदि विद्वान निर्माण सिस्टम अधिष्ठा कारुण्याग भगवान परम से रात्रे जिज्ञासमानाय तंत्र प्रवाच आदि विद्वान निर्माण सिस्टम अधिष्ठा निर्माण चित्त कपिलादि आदि विद्वान चित्त योगी कल्पित चित्त बना करके आश्रित होकर आश्रय करके कारुण्या करुणा से भगवान परमसी आसुरे परमसी आसुरी नाम के ऋषि के लिए वो उपदेश किया जिज्ञास नाना है जिज्ञास नाना है आसुर जिज्ञासा युक्त आसुरी के लिए तंत्र शास्त्र उपदेश किया ये इसे ऐसे कहा गया है तो इस प्रकार प्राणियों के अनुग्रह करने के लिए इसे परमात्मा सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं ये पंचशिखाचार्य के आचार्य उनके वचन है टीका में भूतान आत्मानुग्रह अभावित भूतान अनुग्रह भूतान का क्या प्राणी नाम अनुग्रह प्रयोजन ही प्रयोजन प्राणियों का अनुग्रह करना ही सृष्टि करने का प्रयोजन है शब्दादि उपभोग विवेक ख्याति उपकार उपकार्य करना रूप विवेक क्या रूप कार्य करना केवल चित्तम निवर्तते शब्दादि उपभोग और विवेक क्या रूप कार्य शब्दादि उपभोग से विवेक ख्याति शब्दादि उपभोग विवेक ख्याति रूप यस्य कार्य से तत्कार्य शब्दादि उपभोग विवेक ख्याति रूपम दो है कार्य भोग और अपवर्ग भोग एक शब्द आदि उपभोग शब्द रूप बार बार भोग करना से सुख दुख होगा और अपवर्ग के लिए भी ज्ञान प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान यही कार्य करते हैं कार्य करना कार्य करना चित्त में निवर्तते चित्त का यही कार्य है जब भोग कर लिया अपवर्ग विवेक खाति को प्राप्त कर लिया चित्त निवृत्त होता है मुख्य चित्त प्रभुत्व होता है ततः पुरुष केवल ही भगवत जब चित्त निवृत्त हो जाता है पुरुष केवल हो जाता है कृष्णा रहित तो हो गया प्रवृत्त नहीं होता है तो केवल ही होता है कवल को प्राप्त है मुक्त हो जाएगा अतः तत्प्रयोजनाय कारुणिको विवेक ख्याति उपाय कथयती यही प्रयोजन जीव को भोग और अपग्रह देने के लिए कारुण्य के ईश्वर विवेक ख्याति उपाय कथित तो। विवेक ख्याति ज्ञान का उपाय उपदेश करते तेन अपेक्षार्थत्वा चित्त से जंतु ईश्वर पुण्य पुण्य सहाय सुख दुखे भावेन की ना कारुणिक उपाय कथन करते हैं अचरितार्थता चित्त चरितार्थ नहीं जब तक भोग अपवर्ग नहीं विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं करेगा चरित अर्थ नित्ते न सचितम चरितार्थम जो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो चरितार्थ हो जाएगा भोग अपव्य रूप प्रयोजन जो नहीं सिद्ध हुआ अचरिता से ऐसे चित्त से जंतु ईश्वर पुण्यापुण्यतः पुण्यतः सुख दुखे भावेगा ऐसे जंतु को सुख दुख देते हैं ईश्वर सुख दुख कैसे देते अपने मन से नहीं अपनी इच्छा से नहीं पुण्य पुण्य सहाय ईश्वर ईश्वर का ये सहाय सहायक है सहायक कारण पुण्य पुण्य पुण्य हो अपुण्य जीवों का पुण्य और पाप ये है सहकारी कारण इसी कारण से ईश्वर पुण्य करने वाले को सुख पुण्य पाप कार्य सुख देते हैं सुख दुख धारा सुख दुख तो देते हैं पुण्य पाप के अनुसार जो जैसे कर्म किया अपने कर्म फल भोगने के लिए सुख दुख देने पर भी न अकारण कर अकारण कर नहीं कारणिक ही माता पिता भी बच्चे को शासन करते सम्मान में चलाने के लिए दंड देते हैं छोटे बच्चे इसी प्रकार परमात्मा भी उसको उपदेश से सम्मार्ग में चलाने के लिए कभी दुख देते कभी सुख देते अपने कर्म के अनुसार जो जैसे कर्म किया ऐसे फल देते हैं और कार्मिक है करुणा से ही देते हैं विवेक ख्याति उपाय कथन द्वारा ना हो विवेक ख्याति का उपाय उपदेश करते किस प्रकार किसके द्वारा ज्ञान धर्म उपदेशन ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश ज्ञानम से धर्म से ज्ञान धर्म तयुर दोनों द्वंद्व ज्ञान का उपदेश धर्म का ज्ञान धर्म समस्या लक्ष्य विवेक ख्याति परिपाकार ज्ञान धर्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करेगा धर्म अनुष्ठान करेगा धर्म कर्म से अंतकरण शुद्ध होता है जो निष्काम होकर के पुण्य कर्म करता है शुद्ध अंतकरण होता है ज्ञान होने पर विवेक ख्याति लब्ध विवेक ख्याति विवेक ख्याति प्राप्ति होती है विवेक ख्याति सामान्य ज्ञान होता है किंतु उसका परिपाक होना चाहिए अभ्यास करने से पक्व होता है सामान्य ज्ञान हो गया ब्रह्म सत्य जगत नित्या बहुत वो ज्ञान है बोलने के लिए सरल ब्रह्म सत्य जगत नित्या जीव बनने बन किंतु विवेक है पक्व होना चाहिए दृढ़ होना चाहिए परिपाक दृढ़ होना चाहिए संशय विपर्य रहित ज्ञान ये सभी प्रकार विवेक ख्याति परिपाकार कल्प प्रलय जीवों का उद्धार करेंगे कल्प प्रलय कल्प ब्रह्मणो जीव अवस्था में ये कल्प है ब्रह्म चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिन उच्यते हजार चतुर्युग ब्रह्म का दिन होता है कलयुग का कितना परिमाण आयु है चार लाख बत्तीस हजार उसके दो गुणा है द्वापर जल तीन गुणा है त्रेता और चार गुणा हो जाएगा दो गुणा है तीन गुणा त्रेता है सत्य चार गुणा है तो चार तीन सात दो नौ एक दस चार लाख बत्तीस हजार का दस गुणा कर दो एक चतुर्युग हो जाएगा कलयुग हो गया चार लाख बत्तीस हजार उसका दो गुणा द्वापर तीन गुणा त्रेता चार गुणा सत्य चार तीन सात दोनों एक दस इसका दस गुणा कर लो चार लाख बत्तीस हजार को दस गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक सुन जोड़ देना चार लाख बत्तीस हजार के आगे एक सुन लगा दो दस गुना हो गया ग्यारह हिसाब करना पड़ता है छियालीस लाख बीस हजार हो जाएगा चार लाख बत्तीस हजार का सुन जोड़ देने से क्या हो जाएगा छियालीस लाख बीस हजार क्या हुआ एक चतुर्युग एक चतुर्युग होने के बाद एक हजार चतुर्युग एक हजार जोड़ एक हजार में कितने सुन होता है तीन सुन जोड़कर हिसाब से हो जाएगा ये जितने होगा ये हो जाएगा एक दिन ब्रह्म का चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्म दिन मुचते और इतने समय ब्रह्म का रात है दिन रात मिलकर एक दिन हो गया एक हिसाब हिसाब करना एक मास में एक तीस दिन में एक मास बारह मास में एक वर्ष फिर सौ वर्ष ब्रह्मा के आयु तो ब्रह्मा समाप्त हो जाएगा नए ब्रह्मा बनेगा किंतु ब्रह्मा जो दिन समाप्त होता है हजार चतुर्थ के बाद जीव अवतन शामिल होता है सब लोग तो हैं ना शामिल होने के बाद ब्रह्मा जी भी सोते हैं सायकाल में सोएंगे प्रातःकाल जगेंगे पूरा लंबा इससे अच्छा है ब्रह्मा बन जाना शाम होते सो जाओ सूर्योदय तक जगना अभी बीच में नहीं दिन भर काम करना है दिन में नहीं सोना रात्रि शाम होने पर प्रलय है और सुबह भी जो ब्रह्मा जगते सृष्टि होती है ये कल्प कहते कल्प ये कल्प है कल्प ब्रह्मणो दिवसावसाने दिन समाप्त होने पर जो शाम रात होगा ये ये हो गया कल्प हो गया और यत्र सत्यलो सत्यलोक वर्जन जगत अस्तमेति सत्यलोक रहेगा उसको छोड़कर सब जगत दिन तो हो जाएगा ये हो गया प्रलय आगे महाप्रलय महाप्रलय में क्या सत्यलोक का भी प्रलय हो जाएगा सत्य लोक से सत्य लोक के साथ की निधन एक सौ वर्ष ब्रह्म का आयु होने पर ब्रह्म भी समाप्त ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएंगे कितने प्रकार प्रलय है चार प्रकार नित्य नैमित्तिक प्राकृत और आत्यंतिक नित्य प्रलय है सुसुप्ति अपने सब लोग सुश्रुत अवस्था में जाते हैं नित्य प्रलय नैमित्य का प्रलय है जब ब्रह्मा जी सोते हैं ब्रह्मा के दिन अवसान हुआ कल्प समाप्त हुआ प्रलय उसका नाम हो गया का प्रलय उसमें सत्य लोग रहेगा ब्रह्मा जी रहेंगे बाकी अन्य से प्रलय होगा और एक प्राकृत है जब ब्रह्मा जी का सौ वर्ष पूरा हो जाएगा आयु ब्रह्मा जी भी दिन समाप्त हो गए तो सत्यलोक का भी सत्यलोक के साथ सारा ब्रह्मांड का लय हो जाएगा प्रकृति में लीन हो जाएंगे प्राकृत प्रलय होगा और आत्यंतिक प्रलय कब तो होगा ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर आत्यंतिक जो गहम अपनी ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार हो गया आत्यंतिक प्रलय ये दो यहाँ दिया कल्प और महाप्रलय कल्प हो गया दिवस अवसान जहाँ सत्य लोग छोड़ कर सारे जगत लीन हो जाता है महाप्रलय सत्यलोक से ब्रह्मणोपी निधन सत्यलोक के साथ ब्रह्मा का भी निधन मृत्यु ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएंगे तब उस समय में न पुरुषान उद्धर श्यामी थी संसारिण का तो कारण गामी न कारण को प्राप्त करेंगे प्रलय होने पर कारण में दिन होंगे प्रकृति में प्रधान में दिन होंगे तो उनको उद्धार करके से करेंगे अतः सदा मरण दुख भाज कल्पयति उपलक्ष मरण दुख भाज मरण रूप दुखम भजनते दुख भागे जीव इन पुरुषों को संसार दुख से उद्धार करने के लिए इस तरह प्रवृत्त होते हैं यहाँ जो कल्प कहा है कल्पयत उपलक्षण अन्यदादि स्वार्जित कर्मवचन जन्म मरणादि भाग पुरुषाण उत्तर जाने के केवल कल्प के समय उद्धार करूंगा ये नहीं ये उपलक्षण है उपलक्षण किसको कहेंगे तद ग्राहक सती तद इतर ग्राहकत्व उसको लेना उससे अन्य को भी लेना कल्प के समय में रक्षा करेंगे उद्धार करेंगे अन्य दादी अन्य समय में भी स्वार्जित कर्म बचेना न अर्जितम कर्म जो फल भोगते सुतद उसका कारण ही पुण्यपाप कर्म दूसरे किसने नहीं दिया अपने उपार्जन किया है कभी भी दुख मिलता है दूसरे कोई दुख नहीं देता है अपने किए हुए पाप कर्म का फल है सुख मिलता है भी ऐसा है अपने किए हुए पुण्य कर्म का फल है ये अध्यात्म रामायण में आता है सुख से दुख से न कोई दाता कोई नहीं देता है रामायण तो से इसको ही हिंदी करके लेता है जो अध्यात्म रामायण में है उसका ही अनुकरण है तुलस रामायण में उसने भी इसे दिया है याद है किंतु हम नहीं बोलते हिंदी में है जिनको मालूम है मालूम है ये संस्कृत मूल है अध्यात्म रामायण तो सुख दुख कोई अन्य नहीं देता है अपने अर्जित कर्म फल है स्वार्जित कर्म पर स्वार्जित कर्म वचन अपने द्वारा अर्जित जो कर्म है पुण्य पाप कर्म के अधीन ही सुख दुख भाग कर प्राप्त करते हैं जन्म मरण आदि भाग कर्म फल भोगने के लिए जन्म होता है प्रारंभ समाप्त हो गया तो मरण होता है आदि से त्रिलोकांतर गमन फिर जन्म मरण आदि सुख दुख जरा व्याध्यादि सब प्राप्त करते हैं ऐसे इंसान उद्धर जानी उद्धार करूंगा इस अभिप्राय से भगवान प्रवृत्त होते हैं कैवल्यम प्राप्य पुरुषा उद्धता बनती पुरुषा को पुरुष को उद्धार करें तो पुरुष कहाँ रहेंगे उद्धत कब होंगे कैवल्यम प्राप्य पुरुषा उद्धता भवंती जो कैवल्य को प्राप्त कर लेते उद्धत होंगे संसार से कैवल्य मुख्य ज्ञान प्राप्त होने पर मुख्य होता है केवल भाव केवल कम तब संसार से उद्धत होते हैं जब तक ज्ञान के द्वारा अपवर्ग प्राप्त नहीं हुआ तब तो संसार समुद्र में डूबा हुआ है जन्म मरण जन्म मरण चक्र में भटक रहा है एक करुणा प्रवृत्त ज्ञान धर्म उपदेशन काफिला नाम किसी है ये करुणा के कारण ज्ञान और धर्म का उपदेश करके जैसे ईश्वर ऐसे काफिला नाम किसी कपिल इमेत काफिला सांख्य दर्शन में भी एक है सांख्य में भी आचार्य ने तो कहा पंच शिक्षाचार्य ने कहा एक ज्ञान उपदेश करते कपिलादि तथा तो उत्तम आदि विद्वान तथा तो उत्तम के अनुत्तम पंच शिक्षाचार्य पंच शिक्षाचार्य उन्होंने कहा है आदि विद्वान स्वयं स्वयं देव ब्रह्मा सर्ग के सृष्टि के आदि में प्रकट होते विष्णु बदन से चित्त कल्पना करके योग बल में अपने निर्मित चित्त को आश्रय करके फिर तो कपिल नाम के विचिर को परमंशी हो जाते हैं कपिल रूप धारण करके फिर आश्चर्य को उपदेश किया कपिल आदि विद्वान ने कपिल वो पर ब्रह्म ही जिसमें स्वयं प्ले रूप है आदि विद्वाणी से पंच शिक्षाचार्य वचन आदि मुक्त संतान आदि गुरु विषय पंच शिक्षाचार्य का वचन है आदि विद्वान का आदि कैसे हुआ पंच शिक्षाचार्य का वचन है तो आदि मुक्त आदि गुरु विषय पहले मुक्त है तो आदि गुरु उनके प्रवाह गुरु के शिष्य उनके शिष्य उनको लेकर के सबके आदि कपिल है तो आदि गुरु विषय आदि न तो अनादि मुक्त परम गुरु विषय अनादि मुक्त परम गुरु ईश्वर विषय का नहीं आदि मुक्त कहने से कपिल ही जो स्वयं परमात्मा कपिल रूप से अवतरित होकर उपदेश करते तो आदि विद्वान कपिल हुए ईश्वर साक्षात नहीं वो तो अनादि है मुक्त आदि मुक्त नहीं वो आदि नहीं है वो परम गुरु आगे कहीं ईश्वर का भी उद्योग है कपिल जायमान से महेश्वर अनुग्रहादेव ज्ञान का स्थिति कपिल भी जन्म होते हैं ईश्वर के अनुग्रह से इनकी ज्ञान प्राप्ति उनको हुई ये स्थिति में कहा गया अच्छा एक पंख हाँ। अनादि परम गुरु आदि से कदाचित से विद्वत मुक्त हुए जो आदि मुक्त कभी मुक्त हुए विद्वान बहुत कभी कोई मुक्त होते हैं उनमें आदि हो गए कपिल के थे अस्नाकम आदि विद्वान मुक्त हमारा स्नातम सबके लिए आदि विद्वान है कपिल है मुक्त सैव से गुरु की वही गुरु है कपिल सांख्य के उपदेष्टा कपिलस्यापि जायमान से महेश्वर अनुग्रह देव ज्ञान प्राप्ति सूर्य जन्म होकर के जन्म होते हैं महेश्वर के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति हुई अनादि नहीं आदि विद्वान ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति हुई आरंभ होगा ईश्वर का नहीं ईश्वर तो अनादि से मुक्त है नित्य ज्ञान सर्वज्ञ है कपिलो नाम विष्णुर अवतार विशेष प्रसिद्ध विष्णु के अवतार में कपिल अवतार है ज्ञान अवतार है ये प्रसिद्ध है शास्त्र में पंचमे कपिलो नाम सिद्धेश्वर काल विद्युतम ध्रुवाचाश्रय सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णय तत्व ग्राम समूह का निर्णय आश्रित कपिलो नाम पंचम सिद्ध नामेश्वर काल में विप्लुतम सांख्यम काल से लुप्त होता है विस्मृत विस्मृत विस्मृत करके के कारण रक्त प्राप्त ये सांख्य दर्शन को उन्होंने उपदेश किया ऐसा भागवत करके तो भागवत होते हैं तो उपदेश किया आखिर नाम का आचार्य तो विष्णु का अवतार है भागवत माता है कपिल अवतार विष्णु का स्वयंभूर हिरण्य गर्भ स्वयं वे हिरण्य गर्भ तस्यापि सांख्य योग प्राप्ति वेद किए थे वो भी भगवान ने उनको उपदेश करते हैं सांख्य योग की प्राप्ति वेद में कही गई शैलेश्वर आदि विद्वान कपिलो विष्णु हो वही कपिल हो गया आदि विद्वान कपिल शैलेश्वर आदि वही ईश्वर ही कपिलो से प्रकट होते अवतरित होते आदि विद्वान कपिल विष्णु आगे स्वयं पुराने पुस्तक न स्वयं है क्या न स्वयं के पाठ है विष्णु के आगे न है किसी पुस्तक में है आदि विद्वान कपिल विष्णु न स्वयं स्वयं नहीं किंतु भगवान विष्णु कपिल रूप है और वो स्वयं विष्णु जीव कहेंगे तो वही जो ईश्वर है वही हिरण्य हो जाते हैं स्वयं स्वयं भगवान तो ईश्वर भाव स्वयं भगवान तो ईश्वर आचार्य है गुरु है तो इसमें कहा गया वही स्वयं है उपदेश करते हैं स्वयं का आदि विद्वान स्वयं सर्गाधन वार्तिक में तो आदि विद्वान शब्द से स्वयं का न पाठ नहीं है उनको अवतार विष्णु स्वयं ही स्वयं हुए स्वयं कहने का अर्थ यहाँ ब्रह्मा नहीं जाना विष्णु स्वयं हुए परमात्मा वही कपले से अवतरित होकर के उपदेश किया तो ये हो गया ईश्वर उपदेश करते धर्म और ज्ञान का उपदेश करते चित्त निर्माण चित्त है अपने द्वारा योग साध किसी जिसे से चित्त बना करके उसमें प्रविष्ट होकर के कपिल आदि ऋषि रूप धारण करके कारुण्य से करुणा से ही आश्रय आदि ऋषियों को उपदेश किया था संप्रति भगवत को ब्रह्मादिव्य विशेषण ईश्वर भगवान ब्रह्मादि से विशेष विलक्षण है ऐसा है ईश्वर ऐसा का ईश्वर पूर्व सूत्र में कहा गया पूर्वेशा गुरु काले नानवच्छेदात पूर्वेशापि गुरु पूर्वेशम आचार्य नानवती गुरु ईश्वर है जो पहले पहले उपदेश के कपिला आदि विधान के सब ईश्वर है जो स्वयं वे हिरण्य गर्भादि है सबका गुरु है काले न काल से अवच्छिन्न नहीं अनवच्छिन्नता तो नित्य है अनादि है आदि विद्वान तो सब ये कपिलादि किंतु अनादि काल आलोचना नहीं है नित्य होने से गुरु शाम आचार्य होती गुरु गुरु के भी गुरु हैं पूर्व पूर्व सर्ग में उत्पन्न जो वहाँ भारतीय में क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि उनके भी गुरु कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की अपेक्षा अलग है शिव स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म वो उनका भी गुरु ऐसा कहा कहीं कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को एक कोटि में रखते हैं ईश्वर स्वरूप कहीं कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनको इनकी अपेक्षा एक है ईश्वर है माया विश्लेषण को अलग कहते हैं वो वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप धारण करते हैं सृष्टि काल में ब्रह्मा के रूप प्रलय काल में शिव रूप धारण करते छाया तो उनके सबके भी जो कहीं कहीं कोई कोई इनको भी जीव कुट में रख देते हैं जैसे हिरण्य गर्भ को प्रथम जीव कहा गया माया विष्णु चेतन ईश्वर है वही ईश्वर विष्णु भगवान है कहीं कहीं इसे कह देते विष्णु और रुद्र की अपेक्षा शिव स्वर को अलग इसे भी कहीं कहीं कहा गया कहीं कहीं देवी को कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ऊपर देवी जहाँ कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण को कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से अधिक ये सब जहाँ जहाँ कहते हैं तो नाम में रूप में आग्रह नहीं है माया विचित्र चेतना शुद्ध एक है वो उनके जो रूप धारण करते अलग अलग उनके में कुछ हो गई सबसे ऊपर है माया विचित्र चेतना माया तो प्रकृति विज्ञान माया न तो महेश्वर माया विचित्र है महेश्वर ये सबके ऊपर है उनके उनकी इच्छा से अलग अलग रूप धारण करते उनसे निकृष्ट हो इसे कहीं कहा गया है तो सुरेशान आचार्य न काले न अनुचित सैसी तात्निका जो पहले दिया है ये भूमिका करके आगे कहते हैं सूत्र है सूर्यताम गुरु कालेन अनुचित ऐसा कहीं कि एक साथ लिखेंगे तो कहीं कि सूत्र में आ जाए सैस पुरेशान गुरु ऐसे पाठ हो जाएगा संहिता एक साथ पाठ रखेंगे तो तालपत्र में जब लिखते थे इसमें जागा छोड़ते नहीं थे एक ऐसे लंबा लिखते हैं ईसा जगत पूरे सामपि गुरु काले नचरा इसलिए व्याख्याकार कहते हैं ये तो स तो इतना तो भूमिका है ये सूत्र का अंतर्गत नहीं है सूत्र यहाँ से पूरे सामपि गुरु काले नचरा अभी तो अलग लिखने से स्पष्ट हो जाता है एक साथ लिखेंगे तो भ्रम हो जाएगा पूर्व शाम अभी गुरु इस प्रकार गम हो जाएगा उसे टीकाकार कहते इतने सूत्र है भाष्य में पूर्व ही गुरव कारण अवच्छेद्यंते पहले जो गुरु तो हुए काल से अवच्छिन्न थे किसी काल में हुए उनके पहले कोई थे उनके पहले कोई थे ये तो काल अवच्छिन्न थे यत्र अवच्छेदार्थन काल नूपावर्तन काल जहाँ अवच्छेद करने के लिए अवच्छेद के प्रयोजन में न वर्तते नहीं है अर्थात जो काल का अवचिन्न नहीं होता है स एक पुरुषामति गुरु जो काल का अवचिन्न नहीं काल अवचिन्न होता है किसी काल में रहेगा किस काल में नहीं रहे उसके पहले उनके गुरु थे उसके पहले उनके गुरु थे किंतु जो ईश्वर है वो सर्वदा है पहले भी थे अनादिकाल से है अभी भी ये कालावचन होने से वो पूर्वेशाम गुरु जहाँ काल अवच्छेदार्थ है ना अवश्य अवच्छेद करने के लिए काल नहीं रहता है अवच्छेद करने के लिए अवच्छेद प्रयोजन के लिए काल नहीं रहता है वो पूरे सामने की जरूरत ठीक है काल तो शतवर्षादि शतवर्षादि काल है शतवर्ष ये तर्क संग्रह में आया काल के लिए समय के हिसाब करके संख्या जैसे करते एकम दसम सदम जैव सहस्रमयी तो सत्ताईस में तथा लक्ष्यम से नियुतम से कुटीर अर्बुदमेव ये पद किसमें आया वृंद सर्व निकर्व से शंख पद्म सागर अंत मध्यम पराध संख्या नाथ पराध ये पराध करके से बताया काल काल से सतवशादी अवच्छेदार न का अर्थ क्या अवच्छेदन प्रयोजन अवच्छेद रूप प्रयोजन के लिए काल नहीं रहता है न बचते भाष्य में यथाश सर्ग से आदो प्रकर्षगत्या तथा अतिक्रांत सर्ग आदि सभी प्रत्येक इसी सर्ग के सृष्टि के आदि में परमात्मा ईश्वर से सृष्टि करने वाला प्रकर्षगत्या सिद्ध प्रकर्षगत्य है क्या है ये कार्य कारण होकर के परंपरा चलती है ये प्रकर्ष गति ज्ञान की उत्कर्ष है इनके अपेक्षा उत्कर्ष उनके अपेक्षा उत्कर्ष उनके अपेक्षा उत्कर्ष होकर के अंत में जो सबसे से ज्ञानवान ईश्वर है सिद्ध हुआ तथा अतिक्रांत सर्ग आदि से अतिक्रांत सर्ग प्रलय आदि में भी सबसे प्रकृष्ट ज्ञान वाला ईश्वर ऐसे समझना प्रत्येक ज्ञातव्य टीका में दिया प्रकृत से गति प्रकृष्ट गति गति प्राप्ति कैसे क्या जानेंगे प्रत्युत अकस्मात आगमात भाव आगम प्रमाण ही प्रत्यय प्रकृति से महान महत्व अहंकार अहंकार से तन्मात्र आदि से होता है उसी प्रकार सबसे अधिक ज्ञान वाला जहाँ नृत्य से ज्ञान सर्वज्ञ है इसी सृष्टि में पहले निश्चय हुआ तो पूर्व सर्ग आदि में भी सर्वत्र सर्वज्ञ ईश्वर है जो पूर्व आचार्य नाम गुरु वो ईश्वर है जिसके ईश्वर प्रणिधानाथ बा सूत्र आया था ईश्वर की के प्रणिधान ध्यान चिंतन एकाग्रता से समाधि की सिद्धि होती है जितने साधन सब करने के लिए कहा गया ईश्वर के प्रणिधान कर कृपा से भी तो प्राप्त हो जाता है इसलिए भक्ति जो परमात्मा का चिंतन ईश्वर करता है दिग्ध भक्ति हो तो ईश्वर के भजन करते करते यदि कोई विरक्त हो गया बिगड़ त्रुटि तो प्राप्त कर लेता है और योग अभ्यास करके योग अभ्यास यमन आदि से शुरू करके समाधि की सिद्धि करके ईश्वर प्रणिधानवाद का प्रणिधानवाद कहा गया ईश्वर के लिए जो ईश्वर प्रणिधान का उसके लिए क्लेश कर्म दीपा का परामर्श का और उसके लिए कहा पूरे सामग्री जरूर अब उसका नाम आदि के लिए कहा शास्त्र से जानना चाहिए टीका में तदन प्रबंधे न भगवान ईश्वर दर्शित ईश्वर भगवान लिखा गया ग्रंथ के द्वारा संप्रति तब प्रणिधान दर्शाई तुम उसका प्रणिधान कैसे करना उसका ध्यान चिंतन कैसे होगा दिखाने के लिए सबसे वाचकम आ उसका वाचक नाम संज्ञा कहते हैं सत्यवाचक प्रणव सत्य कस्य ईश्वर से वाचक वाचक अर्थ होता है वाक्य शब्द होता है वाचक घट शब्द है उसका वाक्य बड़ा अर्थ है ईश्वर है श्वेत कर्म विताकार अपराध मृदा के अपराध पुरुष से उनका नाम संज्ञा वाचक है प्रणव वाच्य ईश्वर प्रणवस्य वाच्य कौन होगा ईश्वर और वाचक क्या है प्रणव किसका वाचक है ईश्वर क्या है किसका वाच्य प्रणव है प्रणव का ईश्वर वाच्य प्रणवस्य प्रणव वाचक ईश्वर से ठीक है तत्र परेशान मतम विमर्श द्वारा न उपन्यस्य अन्य मत विचार के द्वारा कथन करते हैं कि मत संकेत कृतम वाच्यवाचक अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थित मिति वाच्यवाचक भाव शब्द और अर्थ शब्द होता है वाचक अर्थ होता है वाच्य वाच्य अर्थ के साथ शब्द का कोई संबंध है शब्दार्थ संबंध है इसको शक्ति कहते हैं शक्ति सामर्थ्य शब्द सुनने से अर्थ का स्मरण होता है अर्थ विषय को देकर के शब्द का भी इसका भी स्मरण होता है उससे सिद्ध होता है शब्द के साथ अर्थ का कोई संबंध है यही संबंध को कहते शक्ति संकेत कहते हैं ये शक्ति शब्द अर्थ का जो संबंध है वो संबंध किसने बनाया है शब्द में वाचकत्व अर्थ में तो है वाच्य तो बहुत है वाचक शब्द भी बहुत है किस शब्द का क्या अर्थ है किस अर्थ का वाचक क्या शब्द है ये वाक्यवाचक भाव शब्द अर्थ में है ये कैसे हुआ किसने किया ये वाक्यवाद संबंध के लिए विभिन्न मत है अलग अलग है व्याकरण लोग शब्द को नित्य मानते हैं शब्द नित्य है तो अर्थ के साथ कहीं कहीं तो अर्थ शब्द से अलग है अथवा नहीं ये भी विचार आता है कोई कहते अर्थ कुछ अलग नहीं शब्द से वेदांत में गाया भाषारम्भण विकार नाम देव विकार कार्य नाम मात्र शब्द है अर्थ कुछ नहीं विकार कार्य कुछ नहीं कारण ही सत्य है मीमांस को लोग मानते हैं शब्द और अर्थ का संबंध औत्पत्ति के शब्दार्थ में संबंध इस सूत्र उनका है व्याकरण में भारतीय के सिद्धे शब्दार्थ संबंध है शब्द अर्थ संबंध सिद्ध है नित्य स्थित है इसके ऊपर विचार करते हैं जो वाच्य वाच्य भाव शब्दार्थ में है ये संकेत के द्वारा किसने बनाया ये तर्क संग्रह में आया ईश्वर कहते हैं अस्मा शब्दार्थ अयमर्थ बुद्धव्य ईश्वर संकेत की शक्ति कहेगी अस्मा श्रद्धा घटित शब्द से अयम अर्थ बोधव्य श्रद्धा से यम लेखनी बोधव्य ये समझना है ये ईश्वर की इच्छा के शक्ति शब्द से संकेत शब्द से कहा गया भारतीय लोग कहते ये अन्य अन्य मत को दिखाते हैं क्या संकेत कृष्ण का भाव संबंध है शब्दार्थ का संबंध है अथवा वस्तु कोई कमरा में कुछ वस्तु है अंधकार है घटपट आदि पदार्थ अंधकार में दिखता है प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा प्रकाश घटपट आदि की उत्पत्ति नहीं हुई पहले से प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति हुई जिस प्रकोष्ठ में कोई पदार्थ नहीं प्रकाश कितने प्रकाश जलाने पर घट दिखेगा हम्म? दो चार पाँच दस हजार का जितने जलाओ एक दो घट दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा पहले है तो दिखेगा प्रकाश होता अभिव्यंजक जनक नहीं बहुत प्रकाश जलाएंगे तो कोई घटक आ जाएगा क्या इसी प्रकार प्रदीप प्रकाश जिस प्रकार अवस्थित वस्तु का प्रकाश होता है इसी प्रकार ये जो प्रदीप प्रकाश हो तो अवस्थित है वाक्यवाचक तुम वाक्यवाचक भाव पहले से है इसको कोई प्रकाश करता है पहले से है अथवा कोई बनाता है ये विचार है दोनों शब्द अर्थ का संबंध पहले से है उसको कोई प्रकट करता है उपदेश करता है अथवा बनाता है इसी शब्द से अर्थ लेना ये विचार का है और